अभी आगे कहना है उपनिषदम भो ब्रूही शिष्य ने कहा गुरु ने कहा उक्ता तो उपनिषद इसके ऊपर शंका हुई ये तो आगे कहना है उगता कह दिया कैसे आगे तो कहने के बाकी है तसे तपोदम आगे कहेंगे तो उसके ऊपर सिद्धांत कहते हैं हाँ आगे कहेंगे तो ठीक है किंतु जो आगे कहा जाएगा उपनिषद का शेष रूप से तो का अंग रूप से ऐसा नहीं है जिससे प्रयाज अनुयाज अंग इस प्रकार नहीं है अथवा सहकारी दस पुनर्वास छः याग मिल करके जैसे कार्य अनुपूर्व सिद्ध के द्वारा स्वर्ग सिद्ध करते इस प्रकार ज्ञान के सहकारी की अपेक्षा करेगा ऐसा नहीं है तो फिर क्यों कहेंगे आगे वो ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय ज्ञान प्राप्ति के उपाय अभिप्राय से कहेंगे क्योंकि वेद और वेदांग के साथ उनके पाठ में तप आदि को रखा गया क्योंकि वेद स्वयं वेद का अंग ये कोई ब्रह्म विद्या का तो शेष ही नहीं ब्रह्म विद्या का अंग ब्रह्म विद्या होगी वेद उसका अंग होगा शेष प्रयोजन या जैसे अथवा ब्रह्म विद्या के साथ वेद शिक्षा आदि अंग मिल करके वृक्ष देंगे ऐसा तो नहीं है तो वेद शिक्षा आदि वेदांग ये जिस प्रकार ब्रह्म विद्या का शेष अंग नहीं है साक्षात अब साक्षात का अर्थ तो विद्याजनकत तो रूप विद्या शेष तो हो से गया हो से था विद्याजनकत तो है किंतु विद्या का अंग जैसे प्रयाज न्याज दस पुनवास का अंग इसी प्रकार ब्रह्म विद्या का अंग वेद वेदांग ऐसा नहीं होता है अथवा दस पुनवास जैसे छह आगे मिल करके स्वर्ग जनक होते इसे ब्रह्म विद्या वेद वेदांग सम्मिलित करे ब्रह्म ज्ञान जनक ये तो नहीं है हाँ ब्रह्म विद्या का उत्पादक उत्पत्ति का सहायक ज्ञान का कारण ये तो ठीक है इसी प्रकार आगे जो तप आदि कहेंगे वो ज्ञान का कारण है ज्ञान का शेष नहीं प्रयाज अनुयाज जैसे अंग नहीं अथवा सम समुचित समुचित होकर के फल देंगे ब्रह्म ज्ञान के साथ तप आदि ऐसा नहीं है इसके लिए पूर्व पक्ष ने कहा ये शिक्षा आदि के साथ पाठ हो जाने से क्यों अंग नहीं होगा एक साथ पाठ होने पर भी नाम अपि यथा योग्यम विभज्य विनियोग से आदि इति चेत सहपठित होने पर भी योग्यता के अनुसार उसका विवाह करे विनियोग हो जाएगा वेद अंग के साथ शिक्षा वेद अंग के साथ तप आदि का पाठ है वेद और वेदांग के साथ तप आदि का पाठ होने पर भी तपादि विद्या का जनक हो जाए किंतु वेद वेदांग उसके सहकारी अंग हो जाए वेद वेदांग जिस प्रकार नहीं वेद वेदांग ज्ञान का जनक हो वेद वेदांग शेष नहीं होगा समुचित नहीं होगा वो ज्ञान का जनक किंतु तपादि ज्ञान के सहकारी हो वेद वेदांग अन्य प्रकार साक्षात विद्या का शेष नहीं है ब्रह्म विद्या का अंग नहीं है ब्रह्म विद्या के साथ समुचित तो होकर के वेद वेदांग मुख्य देंगे ऐसा नहीं है नहीं हो तो कोई बात नहीं एक साथ पाठ होने पर भी तप आदि वेद के दिवेद के साथ तप आदि का पाठ होने पर भी योग्यता के अनुसार विनियोग होगा कि तप आदि ज्ञान सहकारी अथवा ज्ञान का अंग हो वेद वेदांग अंग नहीं हुआ नहीं हो किंतु तप आदि जो सत्य आदि कहेंगे वो ज्ञान का अंग हो इसके लिए एक दृष्टांत देता है जैसे एक साथ पाठ होने पर भी योग्यता के अनुसार विनियोग होता है इसी प्रकार यहाँ वेद और वेदांग के साथ तप आदि का पाठ है इतने होने मात्र से वेद वेदांग विद्या का ब्रह्म विद्या का अंग नहीं श्रेष्ठ नहीं इसलिए तप आदि विद्या का शेष नहीं होगा ऐसा कोई जरूर नहीं तपादि विद्या का शेष हो सकता है तप दम कर्म इत्यादि को कहा गया शेष तो शेष तो कहेंगे यदि शेष कहेंगे तो उक्ता तो उपनिषद तुमको उपनिषद का उपदेश कर दिया ये तो अवधान नहीं बनेगा ये पूर्व जी कहता है तो एक दृष्टांत देता है सह पठित होने पर भी सबका एक ही प्रकार होता है नहीं योग्यता के अनुसार विनियोग होता है इसी प्रकार यहाँ भी वेद वेदांग के साथ तप दम आदि का सहपाठ होने पर भी योग्यता के अनुसार नियुक्त होगा वेद और वेदांग ज्ञान का सहकारी कारण नहीं अंग नहीं जनक भले हो किंतु तप दम आदि ज्ञान का अंग हो सहकारी हो वेद वेदांग ब्रह्म विद्या का सहकारी नहीं है जनक तो हो सकता है सहकारी नहीं है शेष भी नहीं है सहकारी शब्द से सह करोति थे सहकारी मिलकर करेंगे जैसे दस पुण्यवास छह याग मिल करके स्वर्ग देंगे और शेष शब्द से अंग जैसे प्रयाज अनुयाज दस पुण्यवास का अंग है तो इसी प्रकार वेद और वेदांग वो अंग भी नहीं सहकारी भी नहीं किंतु उसके साथ पठित तप दम आदि अंग अथवा सहकारी हो सकते हैं कि क्योंकि एक साथ पाठ होने पर भी योग्यता के अनुसार विनियोग होता है और वेद में वेदांग में योग्यता नहीं ब्रह्म विद्या का सहकारी होने के लिए अंग होने के लिए उत्पादक होते हैं किंतु तप दम आदि सहकारी हो सकते हैं अंग हो सकते हैं इसके लिए दृष्टांत देता है यथा सुक्त वाक अनुमंत्रण मंत्राणाम भाष्य में यथा सुक्त वाक अनुमंत्रण मंत्राणाम सुक्तवाक के अनुमंत्रण सुक्त सुक्तवाक मंत्र है देवताओं का अनुमंत्रण प्रार्थना करने के लिए मंत्र है यथा देवतम विभाग देवता के अनुसार विभाग होता है इसी प्रकार पूर्व जी कहता है तपो धर्म कर्म सत्यादियों का विनियोग हो जाएगा ब्रह्म विद्या के शेष हो जाएगा अथवा ब्रह्म विद्या का सहकारी हो जाए सहकारी साधनत्व ऐसा कल्पना करेंगे पूर्व जी कहता है आगे भी पूर्व पक्षी का अर्थ है क्योंकि वेदानाम तदंगानाम च अर्थ प्रकाशकत्वेन कर्मात्म ज्ञान उपायत्वम इतम अयम विभाग युज्यते वेद वेदांग युवत अर्थ का प्रकाशक ज्ञान जनक होते हैं ज्ञान जनक होने से कर्म ज्ञान का जनक है वेद वेदांग आत्मज्ञान का जनक है तो कर्म आत्मज्ञान कर्म ज्ञान आत्मज्ञान का उपाय उपाय कौन होगा वेद वेदांग वेद वेदांग आत्म ज्ञान उपाय कर्म ज्ञान का उपाय और आत्म ज्ञान का उपाय वेद और वेदांग आत्म ज्ञान उपायत्वम क्योंकि अर्थ प्रकाशक है वेद तो अर्थ ज्ञान जनक इसलिए कर्म ज्ञान जनक आत्म ज्ञान जनक इतम अयम अयम विभाग किंतु तपदम आदि सहकारी ब्रह्म विद्या का शेष हो अथवा सहकारी साधन हो अर्थ संबंध उपपत्ति सामर्थ्य आदि चेत क्योंकि अर्थ संबंध हो सकता है जिसका अर्थ जिसके साथ संबंध होता है उसके साथ संबंध होगा क्योंकि जैसे अर्थ का संबंध हो सकता है ऐसे ही संबंध होगा जिसके जिसकी योग्यता है ये का अनुमंत्रण दिया है का अनुमंत्रण ये टीका में अग्निरिदम हविरजु सताम अभिवृद्धत महो जाय कृत अग्नि समाविदम अग्नि हविरज श्वेताम महो महोजाक्राताम इत्यादि नैव सुक्त सर्व सुक्तवाक्यन सर्व याग समाप्तो देवतानुमन्त्रणं क्रियते सर्वेषां यागानां समाप्तो सर्व याग समाप्तो ये जो दश पूर्णिमास में छह याग होते हैं छह तीन अमावस्या में तीन पूर्णिमास में सब जा समाप्त होने का होने के बाद देवता का अनुमंत्रण अनुपश्चात मंत्रण अनुमंत्रण का अर्थ विसर्जन होता है कर्म समाप्त हो गया देवता को कर्म पश्चात मंत्रण करके प्रार्थना करके विसर्जन करते हैं उसमें से मंत्र आया अग्निर इदम रजुसत अभिवृधत महोजाकृत अग्नि देवता का आवाहन पहले क्या गया था आकर के देवता आए इदम हविर सत ये हवि का जो सिप्रीत सेवन हो ये हवि का सेवन क्या है देवता उद्देशन द्रव्य त्याग हवि बनाते हवि से बनाते चावल तंडुल के पीस करके लपसी जैसे बनाते हैं उनको देवताओं को अर्पण करते हैं देवता उद्देशन द्रव्य त्याग देवताओं का आह्वान करके देवता को अर्पण करते इदम अग्नये नमम ये अग्नि देवता के लिए समर्पण कर दिया उसको अग्नि में डालता नहीं याग का अर्थ अग्नि में डालना नहीं याग का अर्थ देवता उद्देश्य में द्रव्य का त्याग और त्याग का अर्थ फेंकना भी नहीं है ये सामने है ये किसको का ये मैं दे दिया ये मेरा नहीं ये तुम ले लो सामने है अर्पण कर दिया ये तुम्हारा है ये तुम्हारा है मैं दे दिया इदम न मम मेरा नहीं तुम ले लो ये अर्पण कर दिया संकल्प कर दिया त्याग हो गया अभी उसमें अधिकार नहीं है इसी प्रकार देवताओं को उद्देश्य करके द्रव्य सामने रखा इदम अग्नये न मम ये अग्नि के लिए समर्पण करता हूँ ये मेरा नहीं है ये त्याग हो गया सामने है आगे क्या कहेंगे देवता आते हैं ये सब विचार किया गया देवता आते हैं और उनका विग्रह आदि है हवि ग्रहण करते हैं और वो प्रसन्न होते हैं फल प्रदान करने के समर्थ है ऐसे शास्त्र में आया विग्रहो हविषाम भोग ऐश्वर्यं च प्रसन्नता फल तृतम इत्येतत् पंचकम विग्रहादिकम पांच विग्रहादि माने गए जो मीमांसक लोग पूर्व मीमांसा में देवताओं का विग्रह शरीर आदि नहीं मानते हैं और वो भविष्य ग्रहण करेंगे प्रसन्न होंगे फल देंगे ऐसा कुछ नहीं है कर्म विधान किया गया कर्म करें कर्म से फल मिलेगा और देवता ईश्वर क्या कल्पना करना पूर्व मीमांसा का कहना कर्म प्रधान है कर्म वेद में कहा गया यजेत स्वर्ग काम याग करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा और देवता की क्या आवश्यकता है तो अग्नि इंद्र आदि का नाम आता है वो क्या है ये तो केवल शब्द त्यज्यमान द्रव्य का उद्देश्य जिसके उद्देश्य से द्रव्य का त्याग आ जाता है उनको देवता अग्नि शब्द से कह दिया कोई देवता कोई है ही नहीं पूरे मीमांसा लोग कहते हैं किंतु ब्रह्म सूत्र में विचार किया देवता अधिकरण में अर्थवाद होने पर भी विरोधे गुणवाद स्याद अनुवाद उपधारिते भूतार्थवादस्तद्धानाद अर्थवादस त्रिदा अन्य प्रमाण से विरुद्ध होता है उसको तो होता है तो उसको कहते गुणवाद स्तुति स्तुति के लिए कह दिया आदित्य यूप लकड़ी के यूप बनाकर बना दिया श्रुति कहती आदित्य सूर्य लकड़ी के यूप बनाएंगे तो सूर्य तो नहीं होता है वो लकड़ी है तो आदित्य कहा तो स्तुति के लिए विरोध गुणवाद स्याद अनुवाद अवधारिते यदि निश्चित है किसी प्रमाण से वो कोई वाक्य आया उसको कहते अनुवाद अग्निर्हिम से भेषजम अग्नि ठंडा के लौस औषधे और भूतार्थवाद तद्दानाथ जहाँ प्रमाणांतर विरुद्ध नहीं अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं ऐसा कोई वाक्य आया तो भूतार्थवाद यथार्थ कथन है वज्र हस्त पुरंदर इंद्र के हाथ में वज्र है ये किसी प्रमाण के विरुद्ध नहीं कि प्रत्यक्ष इंद्र को देखे कभी वज्र नहीं पकड़ता है तो कहेंगे श्रुति खाली स्तुति के लिए कह दिए ऐसा नहीं कह सकते और किस प्रमाण से ज्ञात वो भी नहीं है जहाँ आदि में इंद्र कहते हैं वज्र कहते उसका मूल श्रुति है इंद्र वज्र अर्थ पुरंदर अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं अन्य प्रमाण का विरुद्ध नहीं होने से यथार्थ कथन वज्रहस्त पुरंदर इंद्र के आते हैं वज्र है तो इसलिए ये भी देवता आते हैं और हवि ग्रहण करते मंत्र का अर्थ है पूर्व के लोग ऐसा नहीं मानते तो ये अर्थ है अग्नि आए इदम हविरजु सत ये हवि का सेवन किया रवि वृथत बढ़ गए भोजन करने पर फूल जाते ना बढ़ जाते अग्नि हवि ग्रहण किया खुश हो गए बढ़ गए प्रसन्न होकर के एकदम खुश हो गए बढ़ गए प्रसन्न हो गए तो फिर क्या महो जाय कृत और बड़ा जाय उत्कर्ष किया हमारे लिए देवता आकर ग्रहण किया बड़े जैसे कहता आप आए बड़े उपकार किया कोई बुलाते हैं आए भोजन क्या आप आए बड़ी कृपा कर दी वही उपकार कर दिया बहुत हमारे लिए उपकार किया बहुत फल दे दिया हम कर्म फल दे दिया ऐसे करके सौ देवता का नाम कह करके फिर उनको विसर्जन करते हैं क्योंकि आए जब आते हैं अंत में छोड़ने के लिए फिर कहते आए बहुत अच्छा है बड़ी कृपा की फिर छोड़ते समय सम्मान के साथ छोड़ते हैं घर में भी गृहस्थ लोग गृहस्थ हो कोई अतिथि कोई आए सम्मान करके उनको छोड़ते हैं तो देवताओं का आह्वान किया कर्म समाप्त हो गया और इसे छोड़कर चल जाना नहीं फिर देवताओं को नाम लेकर के सब कह करके आप आए फिर इसी प्रकार के अग्नि समा वेदम हविरजु सेताम यहाँ दो देवता है अग्नि और सोम से समस्त अग्नि समौ ईद अग्नि वरुण हो अग्नि के ई हो गया दीर्घ इदम हवि दोनों का सेवन किया दोनों ही हवि का सेवन किया अभिवृद्धताम दिवचने बढ़ गए बड़े जाय उत्कर्ष किया इसी प्रकार सुक्तवा का मंत्र है कहाँ अग्नि का नाम है कहीं अग्निशम नाम है कहीं इंद्र नाम ये से नाम है देवताओं का किंतु देवताओं का विसर्जन करने के लिए जिस देवता का विसर्जन करना उसी देवता का ना, नाम लेना और वरुण देवता का विसर्जन करते समय कहे अग्नि रिदम स्वताम वरुण को विसर्जन करते समय अग्नि देव ने आया खाया तो वरुण बोले हमको क्यों बोलते हो विसर्जन अग्नि को जो जिनका विसर्जन उनका नाम लेना इत्यादि ना सुक्त वाक्यन सर्व याग समाप्त देवताओं का अनुमंत्रण करते तत्र यदि यद्यपि अस्मिन् सुक्त वाके बहुव देवता पठ्यन्ते बहुत देवताओं का पाठ ये तो एक दो वाक्य दे दिया दिखाने के लिए बहुत देवताओं का नाम है तथापि यस्मिन् यागे या देवता आहुता तस्यैव विसर्जने योग्यतावसाद अस्य सुक्तवाकस्य यथा विनियोग जिस याग में अग्नि नहीं है इंद्र है वरुण है तो वहां अग्नि की स्तुति करें अग्नि सोम की स्तुति करेंगे वहां इंद्र का नाम लेंगे वरुण के वरुण का नाम लेंगे जैसे वायु देवता है तो वायु का नाम लेंगे एक वायव्यम सेतम आलभेत वायु देवता है वहां वायु का विसर्जन करते समय अग्नि नाम अग्नि सोम नाम लेंगे तो ठीक नहीं जिनका नाम जिनका याग उनका नाम लेना है जिस याग में जिनका याग उसी देवता का आह्वान करते हैं या देवता आहुता जिन देवता का आह्वान किया गया था उसी देवता का विसर्जन करते समय योग्यता साथ योग्यता के अनुसार इसे सुक्त वाक्य का विनियोग किया जाता है अर्थात उसी देवता का नाम लेना पड़ता है अग्नि इदम अभिरजुसताम अभिवृतत वाक्य जब वायु देवता कर्म करेंगे वहां क्या कहेंगे वायुरिदम अभिरज सत अभिवृतत महो जाकृत ऐसा करना पड़ेगा यदि इंद्र को बुलाए तो क्या कहेंगे इंद्र इंद्र इदम अभिरज सत अभिवृतत ऐसा करना पड़ेगा इसी प्रकार तथा तप प्रवृत्ति नामेव विद्या शेषत्वेन विनियोग भविष्यति तप दम आदि विद्या का शेष प्रयाज या जैसे अंग है ऐसे अंग हो जाएगा अथवा सब मिल करके ब्रह्म विद्या तप दम सब मिल करके मोक्ष देंगे ऐसा भी हो सकता है ये पूर्व पक्षी का कहना है तो भाष्य में दिया तथा तप धर्म कर्म सत्यादि नाम ब्रह्म विद्या शेषत्वम तत्सहकारी साधनत्व तो ऐसा शेष मान अंग अथवा सहकारी मान साधन वेदानाम तदंगानाम च अर्थ प्रकाश ये हो गया था अयम विभाग युज्य अच्छा कर्म आत्मज्ञान उपयोगितम इत्येव एवं अयम विभाग युज्यते अर्थ संबंध उपपति सामर्थ्या क्योंकि अर्थ संबंध जिनके साथ जिसका अर्थ संबंध है वो संबंध हो सकता है इसलिए अर्थानाम यथा उपपत्ति संबंध मान करके युक्ति है अर्थ किसके साथ जिसका संबंध होगा उनके साथ संबंध होगा अर्थों का संबंध एक वाक्य उच्चारण करते समय इस श्लोक में किस पद का इधर उधर रहता है अर्थ करते समय जिसके अर्थ के साथ जिसका संबंध होना चाहिए ऐसा संबंध होता है योग्यता के अनुसार संबंध सामर्थ्य आद ऐसे विभाग युज्यते इति चेत यहां तो पूर्व पेश हुआ सिद्धांत उत्तर देगा न अयुते टीका में दिया टीका में भवे सुक्त वाक्य से विनियोग योग्यता संभवात न कर्मणा सुक्त वाक्यों का मंत्रों का विनियोग हो जाएगा योग्यता वहां संभव है योग्यता है वायु देवता का नाम तो वायु नाम लेंगे योग्यता है मंत्र का वायु के साथ अन्य हो जाता है योग्यता होने पर उसका नाम नहीं आ जाएगा जिसकी योग्यता ने उसका नाम नहीं ले सकते हैं न कर्मणा कर्म के साथ कर्म का अन्वय नहीं हो सकता विद्या के साथ क्योंकि योग्यता नहीं विद्या के साथ कर्म का संबंध हो नहीं सकता है विद्या विरुद्धत्वेन योग्यता है अयोग्यता विद्या विरुद्ध है कर्म विद्या तो कर्म का सारे कर्म का नाशक है अरे विद्या होने के बाद विद्या है अहमस्मि परम ब्रह्म निष्क्रिय अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान होने के बाद मैं कर्ता नहीं भोक्ता नहीं अद्वितीय हूँ नित्य मुक्त हूँ ये ज्ञान हो गया अब कर्म करने के लिए क्या चाहिए मैं यज्ञ का करता हूँ इस फल भोग करूँगा स्वर्ग जाऊँगा कर्तृत्व भोक्तृत्व द्वैत्व स्वर्ग ये सब आरोप करने पर ज्ञान होने पर कर्म करेगा इधर ब्रह्म ज्ञान हो गया नाहम किंचित कर्मेति कर्तृत्व तो भक्त तो नहीं मैं शुद्ध पर ब्रह्म व्यापक निष्क्रिय हूँ और उसके साथ साथ याग प्राप्ति के लिए मैं स्वर्ग प्राप्ति याग करूँ स्वर्ग प्राप्ति के लिए याग करने के लिए द्रव्य धन इकट्ठी करना ये दोनों विरुद्ध परस्पर है एक आश्रय में एक समय में नहीं होगा हाँ पहले कोई कर्म करता था वैराग्य हो गया संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा हो गई उस समय ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर कर्म करेगा मोक्ष के लिए ऐसा नहीं होता है योग्यता है ही नहीं विद्या तो उत्पन्न होते ही भस्म तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात तथा ये सारे कर्म को भस्म कर देती ब्रह्म विद्या कर्म तो विद्या विरुद्ध होने से योग्यता है अयोग्यता आदि योग्यता है असंभवात योग्यता संभव नहीं न अयुते है नहीं अयम विभागो घटना प्रांचति ये जी विभाग आपने बताया कि वेद अंग ये उत्पत्ति का साधन हो जाए किंतु सत दम तप ये कर्म आदि ये सहकारी साधन अंग हो जाए अयम विभाग न घटना में घटना युक्ति युक्ति युक्त नहीं होता है न गच्छति घटना न गच्छति ये घटेगा नहीं संभव नहीं हो सकता है क्यों नहीं होगा नहीं सर्व क्रिया कारक फल वेद बुद्धि तिर तिरस्कारिण्य ब्रह्म विद्या शेष अपेक्षा सहकार साधन संबंध वायुज्यते ब्रह्म विद्या कैसे है सारे क्रिया कारक फल भेद बुद्धि को तिरस्कार करने वाली जितने क्रिया है कर्म कारक में करता हूँ और कर्म है स्वर्ग प्राप्त करूँगा कर्ण है घृत या आज्य आदि घृत है और संप्रदान है देवता अधिकरण आहवने जुहति जितने कारक है और उसका फल सर्ग आदि फल इनका जो भेद बुद्धि मैं करता हूँ ये कर्म है करण है संप्रदान ये कारक क्रिया फल इस फल बुद्ध भेद बुद्धि का तिरस्कार करती है ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या उनसे कोई ना क्रिया है ना कारक है ना फल है ना करता है कुछ नहीं सर्वम ब्रह्म इदम अहम ब्रह्म एव इदम सर्वम अहम ब्रह्म मैं सारे कुछ एक अद्वितीय तत्व ब्रह्म हूँ ये ज्ञान होने के बाद कोई फल भेद बुद्धि नहीं क्रियाकार है फल इसलिए ऐसे ब्रह्म विद्या के बाद और ब्रह्म विद्या होने के बाद उससे अतिरिक्त ब्रह्म से अतिरिक्त ज्ञानी अपने को मानता अहम असीम परम ब्रह्म अब ब्रह्म से बिना क्या पदार्थ रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा तो उसके शेष की फिर ब्रह्म विद्या होने के बाद और कुछ शेष की अपेक्षा है और कुछ करने की अपेक्षा है और कुछ आवश्यकता है कुछ है ही नहीं ना कुछ करना होता है जब मैं निष्क्रिय ज्ञान हो गया मत्त किंचित अन्यद नास्ति मेरे से बिना कुछ भी नहीं ऐसा निश्चय हो गया फिर क्या संग्रह करना चाहिए क्या करने की चाहिए शेष की अपेक्षा नहीं शेष मतलब कोई अंग जैसे दर्श पुनवास कर दिया आगे प्रयास करेगा ब्रह्म विद्या हो गई फिर आगे सोचेगा कुछ करना आगे कुछ करने के लिए ऐसा नहीं है अतः सहकारी साधन ज्ञान तो हो गया उसके साथ थोड़ा कुछ दंड बैठक करना पड़ेगा ब्रह्म मोक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान तो हो गया फिर रोज दंड बैठक करेगा नहीं तो ब्रह्म मोक्ष नहीं मिलेगा ये सहकारी साधन भी आवश्यकता न युज्यते है में विद्या विषय पर्यालोचनया फल पर्यालोचनया च नास्ति तत्वत संबंध योग्यता विद्या का जो विषय है ब्रह्म शुद्ध अद्वितीय ब्रह्म है विषय का पर्यालोचन करेंगे शुद्ध निष्क्रिय ब्रह्म है विद्या का विषय वो प्राप्त ज्ञान हो गया तो अपने स्वरूप निश्चय हो गया आगे किसी की आवश्यकता नहीं है वो असंग है संबंध ही नहीं होगा अरे फल पर्यालोचना है आज विद्या का फल क्या है मोक्ष ब्रह्म प्राप्ति ज्ञान होते ही प्राप्त हो गया शुद्ध ब्रह्म प्राप्त क्या है तद्रूपेण अवस्थान बस हम अस्मि ब्रह्म और कुछ नहीं मेरे से बिना कुछ भी नहीं शुद्ध स्वरूप से रहना ये फल है ब्रह्म निष्ठा है ज्ञान होते ही वो जीवन मुक्त हो जाता है और कुछ नहीं स्वरूपेण ब्रह्म रूपेण अवस्थान स्वयं ब्रह्म रूप से रहता है इसका विचार करने से और कुछ उसकी संबंध की योग्यता नहीं असंग रूप से रहता है तत्व तो वास्तव वास्तव कोई योग्यता नहीं है इसलिए कोई भ्रांति से कल्पना संबंध करेगा अब भ्रांति से कोई करेगा ज्ञानी का की भ्रांति होगी इसे कोई संबंधी योग्यता नहीं भले अन्य लोग अज्ञान लोगों को भ्रांति हो जाए सोचते कि ब्रह्म ज्ञान हो गया फिर भी कुछ करना पड़ता है देखो मंदिर में जाते देखो भिक्षाटन करते तो इच्छा करना पड़ेगा ये ऐसे कुछ नहीं ये वास्तव योग्यता नहीं प्रत्युत बल्कि क्या है कर्मणाम अनुपयोगात कर्मणाम त्याग एवं मुमुक्षुणा त्याग कर्म का उपयोग है ही नहीं कर्म का जो कार्य था वैराग्य वो हो जाने पर कर्म का उपयोग नहीं श्रवण मनन करने के बाद श्रवण मनन निधिध्यासन मुक्त ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या मुमुक्षु को भी जब वैराग्य हो गया तो कर्म त्याग कर्मणाम त्याग एवं मोक्ष मुमुक्षुना कर्तव्य कर्म का त्याग ही मुमुक्षु को करना चाहिए कोई जरूरत नहीं और जब वैराग्य नहीं है तब कर्म करना पड़ता है आरुरुक्षोर मुनि योगम कर्म कारणमुच्यते योग आरूढ़ सतसेव समह कारणम ज्ञान निष्ठा में आरूढ़ हो गया तो सर्वनिवृत्त होकर के श्रवण मन निध्यासन उसकी आवृत्ति और कुछ नहीं जब नहीं हुआ तब कर्म उपासना करनी चाहिए मुमुक्षुना कर्म का सब कर्म कर्म शब्द से शारीर हो मानस कर्म हो उपासना सब मुमुक्ष श्रवण मन निधिध्यासन सबसे अंतरंग साधन इसको कोई कर पाता है समझ में आ गया प्रविष्ट हो गया वही करना है सर्व विषय त्वात विद्या अं? सर्व विषय आगे प्रश्न सर्व विषय व्यावृत प्रत्येगात्म विषय निष्ठत्वाच ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या किसको विषय करती है ब्रह्म को और ब्रह्म कैसा है प्रत्येगात्मा जो प्रत्येगात्मा वही ब्रह्म है अपने से भिन्न कोई ब्रह्म नहीं ब्रह्म विद्याया प्रत्येगात्म विषय निष्ठत्वात् प्रत्येगात्म रूप विषय निष्ठ उसमें स्थित है उसको ही विषय करता है और प्रत्येगात्मा कैसा है सर्व विषय व्यावृत सारे विषय से पृथक सारे जितने विषय है ज्ञेय पदार्थ है सब विषय है ज्ञान का विषय ज्ञेय ज्ञेय होता आपसे भिन्न आप भी ज्ञेय पदार्थ से भिन्न जितने पदार्थ है आपके द्वारा ज्ञात अज्ञात कुछ भी हो सब विषय जितने उसे भिन्न होता है दृग रूप चेतन एक होता है दृग विषय सबका प्रकाशक और भिन्न सब दृश्य है ज्ञेय है विषय है और द्रिक रूप चेतन सारे विषय से व्यावृत पृथक है सर्व विषय व्यावृत जो प्रत्येक आत्मा है अपने आत्म स्वरूप सब विषय से व्यावृत देह इंद्रिय पंचकोश आदि सब से विलक्षण जो आत्मा तद विषय में स्थिर है ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या होने पर अहम अस्मि परम ब्रह्म और कुछ भी नहीं है ना कुछ सोचने का ना प्राप्त करने का ना कुछ कर्तव्य ना कुछ देखना ना सुनना कुछ नहीं बाकी जो कुछ यदि व्यवहार में होता है वो ज्ञानी देखता है कर्मणि अकर्म दर्शन कर्म में क्या देखता है कर्म अभाव उसके शरीर से कुछ क्रिया हो रही तो उसको कहते कर्म आभास वास्तव नहीं है देह आदि के कर्म को अज्ञान लोग आरोप करेंगे देह में देह शरीर का ग, में गमन भोजन पानी पीना उपदेश ये सब जो रहा है शुद्ध ब्रह्म स्नान करता है भोजन करता है या उपदेश करता है या विचारण करता है निष्क्रिय ब्रह्म कुछ नहीं करता है ज्ञानी अपन को निष्क्रिय ब्रह्म मान करके रहे कुछ नहीं और बाकी शरीर क्रिया को अज्ञान लोग आरोप करके जाता है विचाटन करता है उपदेश करता है आरोप करेंगे अन्य लोग आरोप करेंगे मरुह में जल तो मरुह में गीली हो जाती अन्य लोग आरोप करें आरोप करते ज्ञानी का क्या कुछ भी कोई कहे शांत ब्रह्म स्वरूप में स्थित है इसलिए उसके साथ कर्म तप दम किसी की किसी का संबंध उसका शेष सहकारी किसी की आवश्यकता नहीं वो तो ज्ञान होते ही अपने को देखता है मैं मुक्त हूँ कैसे मुक्त हूँ पहले बंधन था अभी ब्रह्म ज्ञान हो गया मैं मुक्त हो गया ऐसे मानता है रज्जु में सर्प भ्रम था रज्जु को देख लिया कोई कहता है कि पहले रज्जु थी अभी रज्जु पहले सर्प था अभी रज्जु देख लेने से सर्प चला गया ऐसा कहता है क्या कहता है पहले भी ये सर्प नहीं रज्जु ही थी अभी भी रज्जु ही राज्य से भिन्न सर्प तीनों काल में है ही नहीं ना था ना आगे होगा ज्ञान हो जाने से वो देखता है मैं कभी बद्ध नहीं था अभी भी मुक्त हूं आगे भी बंधन कहां हो सकता है कौन बांधने के मेरे से बिना कोई है ही नहीं बंधन अच्छा मैं तो बद्ध नहीं हूं बाकी लोग सब बद्ध है संसारी है ज्ञानी देखता है कोई बद्ध है नहीं कोई है नहीं मेरे से बिना बद्ध मुक्त क्या है जो ज्ञान हो जाता है देखता है मेरे से बिना सपना प्रपंच बहुत देखा जगने के बाद स्वयं तो अपने आप को देखता है बाकी क्या रहता है अन्य कोई है कोई नहीं है सपने में कभी यदि गुरु को देखा भगवान को देखा जगने के बाद सामने बैठे भगवान सपने में जो देखा कोई स्वप्न पदार्थ नहीं रहता जगने के बाद अकेले रहता है सपने में जगने का जो अकेले सपने में बहुत लोग थे बहुत लोग थे भोजन कर रहे थे हंसी मजाक कर रहे थे बड़े खेल रहे थे जग जाने के तो अकेले हो गया कमरा में अकेले तो डर लगता है ना नहीं कोई लोग नहीं रहेंगे आप अकेले रहोगे सपनों के जगने के बाद डर लगता है ना नहीं सपने से जगने के बाद कोई आपके साथ रहता है क्या सपना प्रपंच बहुत थे बंधु बांधव बहुत खेल करते कुछ कहा भी रहते और जगे तो कोई नहीं है ना मकान है ना कुछ है फिर रोते हो कोई सपने जगने आता इतने बड़े मकान था कहाँ चला गया मेरे सब बंधु बांधव सब आ गए थे मर गया था पिता माता पिता पितामह सब आ गए थे कहां चले गए कोई रोता है कुछ नहीं इसी प्रकार ज्ञान हो जाने के बाद देखता कुछ भी नहीं है ये विचार करने का भी नहीं रहता अपने स्वरूप में स्थित रह गया इसलिए कोई सहकार आदि की कोई आवश्यकता नहीं है ना तत्फल से च निशेषस्य किसी का भी संबंध नहीं हो सकता है सर्व विषय व्यावृत निश्चय ब्रह्म विद्या तत्फल से च निशेषस्य मुख्य भी तत्फल है मुख्य मुख्य होने से उसका विषय भी क्या है वही ब्रह्म रूप शरण और कुछ नहीं मोक्षम इच्छन सदा कर्म त्यजे देव ससाधनम त्यजतेव हि तज्ञेयम त्यक्तु प्रत्यक परम पदम मोक्षम इच्छन मोक्ष यदि कोई चाहता है मोक्ष चाहने वाला सदा ससाधनम कर्म त्यजे देव साधन के साथ कर्म का त्याग ही कर दे मुमुक्षु हां जब वैराग्य नहीं हुआ तो मुमुक्षुत्व भी नहीं है मोक्ष की इच्छा नहीं होगी और कोई कहता हाँ ये सब प्रपंच तो हमको चाहिए हम मोक्ष मिल जाएगा तो अच्छी बात है ये मोक्ष इच्छा नहीं है ऐसे चाहते मिल गया तो मिल गया ठीक है भूख लगते भोजन करने की इच्छा है भोजन करेंगे दक्षिणा मिल गया तो ठीक है रख लेंगे नहीं मिले तो कोई बात नहीं भूख तो भोजन तो करना है ऐसे इच्छा से नहीं मोक्ष मिशन मोक्ष की इच्छा मतलब और किसी की इच्छा नहीं मोक्ष में भूयाते दृढ़ इच्छा ऐसे जैसे वैराग्य हो जाए सदा कर्म त्यजे देव साधनम कर्म साधन के साथ साधने धन पुत्र पत्नी आदि सब ये सब का पत्नी आदि साधने कर्म करने के लिए धन भी सब का त्याग करें इसलिए सन्यासी में कर्म साधन सीखा यज्ञ में भी कर्म का साधन है सीखा नहीं यज्ञ में ने तो कर्म करने के लिए अधिकार नहीं है कर्म करने के लिए यज्ञ में तो चाहिए सीखा भी चाहिए और यदि कर्म सीखा नहीं यज्ञ में नहीं कुछ भी कर्म नहीं कर सकता है विवाह करने के लिए भी अधिकार नहीं है विवाह भी के कर्म है उसके लिए भी अधिकार नहीं इसलिए अभी कोई शादी करते हैं तो यज्ञों पे तो जनेऊ संस्कार पहले नहीं हुआ तो भी पहले जनेऊ डाल देंगे फिर बाद में वो फेंक देता है कोई बात नहीं किंतु उसी समय तो जनेऊ डालना पड़ता है इसलिए बहुत लोगों को याद नहीं रहता पता नहीं शादी के समय ये जनेऊ को कौन पूछता है पंडित ने कुछ डाल दिया डलवा दिया फेंकवा दिया उसे हम क्या क्या किया हमारा क्या संबंध ऐसे कुसम में कुछ लगाते हाथ में ऐसे कुछ चंदन सिंदूर कहीं पकड़ा लगा इसी प्रकार जनेऊ डाल दिया था उसके साथ कोई संबंध नहीं किंतु कुछ भी कर्म करने के लिए सन्यास के लिए भी सन्यास लेने के लिए भी जिनका संस्कार नहीं हुआ पहले जनेऊ पहनाते उसके बाद सन्यास कर्म करेगा श्राद्ध करने के लिए देवताओं को अर्घ्य देने के लिए मंदिर में रुद्री करने के लिए कोई आएगा पूजा करेगा तो भी जनेऊ पहनना चाहिए उसके बिना ना तो पितृलोक ना तो देवता लोग पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं इसलिए साधन ये कर्म करने के लिए क्योंकि सन्यास जब लेता है शिखा योग में तो सब फेंक देता है कोई कर्म करना नहीं त्यजता है वही तजियम त्यक्तु प्रत्यय परमपद त्यजता जो त्याग करता है वही प्रत्यक्तु प्रत्यक त्यक्ता के जो प्रत्यगात्मा वही परमपद है वही ज्ञेयम त्याग करने से ब्रह्म कोई अपन से भिन्न नहीं त्याग करने वाला जो साधक उसका प्रत्यगात्मा वही परम पद ज्ञेयम भवति तस्मात् कर्मणाम सहकारित्वम कर्म से अपेक्षा वा न ज्ञान से उपपद्यते ज्ञान के लिए कर्म सहकारी बनेगा अथवा कर्म उसका शेष बनेगा कर्म शेष स्वयं कर्म शेष होकर के ज्ञान की अपेक्षा होगी इति न उपपद्यते ततो असदेव सुक्तवाक अनुमंत्रणवत यथा योगम विभागयति इसलिए पूर्व पक्षी ने जो कहा था सुक्त वाक अनुमंत्रण का जैसे योग्यता के अनुसार देवताओं का नाम अलग-अलग लेकर के विभाग किया जाता है इसी प्रकार जो तस्य तप दम कर्म वेद अंगों का नाम एक साथ पढ़ा पढ़ा गया श्रुति में आगे श्रुति में तो भी वेद वेदांग ज्ञान का जनक है ज्ञान का सहकारी नहीं ज्ञान का अंग नहीं नहीं होने पर भी तप दम कर्म ये सब ज्ञान का सहकारी अंग हो सकते हैं ये पूर्व पिछ ने कहा था सिद्धांत कहता है ज्ञान के साथ किसी का कोई संबंध हो नहीं सकता है विरुद्ध है इसलिए असदैव ये गलत है जो तुम कहते हो वाक अनुमंत्रण के समान यथा योगम वेद वेदांग ज्ञान का उत्पादक तप दम कर्म ये सब ज्ञान का सहकारी अंग ऐसे विनियोग हो ये ठीक नहीं है इसलिए ये जो आगे कहेंगे ज्ञान प्राप्ति का साधन कहेंगे ज्ञान का अंग अथवा सहकारी नहीं ज्ञान उत्पत्ति का साधन कहेंगे इसलिए जो कहा दिया उक्ता तो उपनिषद अब तुमको मैंने उपनिषद कह दी ये जो आचार्य ने कहा तस्माद अवधारणार्थता एव प्रश्न प्रतिवचन से उपपद्यते प्रश्न है उपनिषदम भो ब्रूहि शिष्य ने पूछा प्रतिवचन उत्तर दिया तुमको मैं कह दिए तो अवधान अर्थात निश्चय करने के लिए उपनिषद का उपदेश हो गया ब्रह्म विद्या का उपदेश हो गया आगे जो कहेंगे ब्रह्म विद्या प्राप्ति का साधन कहेंगे नहीं कि ब्रह्म विद्या का अंग सहकारी ऐसा नहीं एतावत्येव यम उपनिषद उक्ता एतावती एव इतने ही ये उपनिषद ब्रह्म विद्या उक्ता कही गई अन्य निरपेक्षा इसके अन्य किसकी अपेक्षा नहीं अमृतत्वाय अमृतत्व मुक्ति प्राप्ति के लिए प्राप्ति के लिए ब्रह्म विद्या से अन्य किसी की अपेक्षा नहीं इतनी कह गई टीका में सर्वेभ्य उत्पाद्यादिभ्य कर्मगोचरेभ्य व्यावृत यह प्रत्यगात्मा सर्व विषय व्यावृत प्रत्यगात्मा विषय सारे विषय से व्यावृत जितने विषय सबसे अतिरिक्त और कर्म का विषय एक तो हो गया प्रत्येगात्मा दृग रूप चेतन है सारे दृश्य से भिन्न है विलक्षण ब्रह्म विद्या एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है वो प्रत्येगात्मा जो अपना स्वरूप वही ब्रह्म है उससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है तो उसके साथ कर्म का संबंध हो नहीं सकता है और दूसरा है कर्म का भी विषय क्या है कर्म से क्या क्या हो सकता है कर्म क्या है कर्म से उत्पाद कर्म विषय क्या है उत्पाद्य आप्य संस्कार्य विकार्य कर्म से किसकी उत्पत्ति होगी और किसके प्राप्ति होगी अध्ययन करेंगे स्वाध्याय से वेद की प्राप्ति होती है आपति उत्पत्ति है उत्पत्ति करेंगे पुरुरास की उत्पत्ति होती है पकाएंगे संस्कार करते हैं और सोम रस निकाल निचोड़ते हैं ब्रीहन अवहंती ये व्रीहि को अवहात करता है कुटता है अवघात है ना व्रीही धान को कुटता है ये हो गया उत्पत्ति आपति हो गया वेद अध्ययन संस्कार है आज्यावेक्षण संस्कार ब्रीन प्रक्षति संस्कार होता है और विकृति है विकृति है विकार करना दूध को दही आदि बनाता है विकृति होती है कर्म में भी विकार है कर्म से उत्पत्ति आपति विकृति संस्कृति चार प्रकार है फल कर्म का मोक्ष इस प्रकार मोक्ष की उत्पत्ति नहीं होती है मोक्ष नित्य है उत्पत्ति हो तो ज्ञान से मोक्ष की उत्पत्ति कहेंगे तो मोक्ष अनित्य हो जाएगा इसलिए मोक्ष की उत्पत्ति नहीं और मोक्ष की प्राप्ति वो भी नहीं है मोक्ष कुछ अलग नहीं जिसकी प्राप्ति होगी ज्ञान होने पर जो मैं बद्ध हूं ये ब्रह्म उसकी निवृत्ति हो जाएगी माला गले में है और ज्ञान हो गया तो माला मिल गई मिलेगी क्या अपने गले में तो है कह देते मिल गई वो प्राप्ति कोई अलग नहीं अप्राप्त की प्राप्ति नहीं प्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति गौण शब्द है वस्तु तो कोई प्राप्ति नहीं है इसलिए प्राप्ति नहीं वो अपना स्वरूप है अपने स्वरूप को क्या प्राप्त करना हां स्वरूप है और भ्रांति हो गई कहां खो गई कहां कोई कहां है ओ ज्ञान हो गया तो दशम स्तमसि मैं दशम रो रहे थे दशम मर गया दशम मर गया अके तुम दशम हो अके हां अभी ज्ञान हो गया दशम मिल गया कहां से दशम आ जाएगा स्वयं तो दशम है इसी प्रकार आपत्ति नहीं मुख्य और संस्कृति मुख्य तो नित्य ब्रह्म स्वरूप है उसका संस्कार शुद्धि क्या है नित्य शुद्ध है संस्कृति नहीं और विकृति कोई विकार हो जाएगा कुछ नहीं विकार ने आत्मा अत्यंत शुद्ध है उसको कुछ ना शोधन करना है ना कुछ विकार करना है मल को हटाना कुछ नहीं जितने साधने अंतकरण में मल है विक्षेप उसको हटाने के लिए आत्मा की शुद्धि के लिए नहीं आत्मा तो नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप है अज्ञान के कारण अपने को भ्रांति से बद्ध मानते हैं ज्ञान हो गया मुक्त इसलिए कर्म का जो विषय है कर्म गोचर वे उत्पाद्य आदिव्य व्यावृतों से विलक्षण है आत्मा प्रत्येक आत्मा प्रत्येक आत्मा नित्य है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है वही मोक्ष मुक्त है ब्रह्म स्वरूप है ब्रह्म विद्या का विषय प्रत्येक आत्मा अपना स्वरूप नित्य प्राप्त है और ना कोई संस्कार करना प्रत्येक आत्मा में नित्य शुद्ध है ना कुछ विकार करना है अविक्रिय विकार रहित है उसे विलक्षण है प्रत्यात्मा स एव ब्रह्म रूपण विद्या व्यावर्तक विषय ब्रह्म रूप से वही विद्या का व्यावर्तक होता है ज्ञान का विषय होता है व्यावर्तक घट ज्ञान पट ज्ञान कहेंगे दोनों ज्ञान रूप है घट ज्ञान में होता है घट विशेषण पट ज्ञान में विशेषण पट तो ज्ञान का व्यावर्तक भेदक होता है विषय घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान जितने ज्ञान है विषय का सब ज्ञान ज्ञान ज्ञान है विषय को छोड़कर ज्ञान का भेद बताओ रूप ज्ञान रस ज्ञान दोनों भेद है ना नहीं रूप रस को छोड़कर भेद बताओ क्या है रूप रस के नाम के नहीं लेंगे तो रूप ज्ञान से रस ज्ञान भेद कैसे करें ज्ञान रहेगा तो ज्ञान का विशेषण विषय होता है व्यावर्तक भेदक और ज्ञान निराकार है अर्थेनेव विशेषो ही निराकारतया धियाम बुद्धि निराकार होने से अर्थ से विशेष आता है अर्थ उपाधि जिस प्रकार एक ही आकाश है घटाकाश मठाकाश महा गुहा गुहाकाश अलग-अलग नाम हो जाता है आकाश एक है उपाधि के परामर्श के बिना आकाश का भेद सिद्ध नहीं होगा इसी प्रकार ज्ञान भी एक है नित्य है सर्वानुगत है वही सद्रूपे वही सत्य है विषय के नाम नहीं लेंगे तो ज्ञान का भेद सिद्ध नहीं होता है एक ही चिद्र ज्ञान सारे वृत्ति में अनुगत है घट ज्ञान पट ज्ञान घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति को कहते अंतकरण परिणाम किंतु अंतकरण परिणाम ज्ञान के बिना वो अंतकरण परिणाम जड़ है वो ज्ञान कैसे होगा एक चिद्र ज्ञान का संबंध सब के साथ है सारे वृत्ति में अनुगत वो ज्ञान एक है उसका भेद कोई नहीं कर सकता है भेद है ही नहीं भेद तो घटपट विषय को लेकर के वृत्ति के भेद से ज्ञान का भेद कहते हैं तो उससे विलक्षण है व्यावर्तक विशेष ज्ञान का ब्रह्म विद्या का विषय ब्रह्म विद्या में ब्रह्माकार वृत्ति है जैसे घट ज्ञान घटाकार वृत्ति है ब्रह्म ज्ञान भी ब्रह्माकार वृत्ति अंतकरण का परिणाम उसमें चेतन का संबंध है चिदाभास होने से वो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक हो गया वो ज्ञान घट ज्ञान से विलक्षण क्या हुआ उसका व्यावर्तक ब्रह्म जो ब्रह्म प्रत्येक अभिन्न है और जो स्वयं उत्पाद्य नहीं आप्य नहीं विकार्य नहीं संस्कार्य नहीं कर्म का संबंध ज्ञान के साथ तभी करेंगे यदि ज्ञान का फल ब्रह्म यदि उत्पाद्य हो आप्य हो विकार्य हो संस्कार्य हो ऐसा कुछ होगा तो कर्म का उपयोग होगा ये चारों से विलक्षण होने से कर्म का कोई प्रयोजन नहीं है तनिष्ठत्वाद विद्याया विद्या त तो तनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ आत्मनिष्ठ जो प्रत्येक आत्मा है तो उसमें स्थित है ब्रह्म विद्या तत्फल से च कर्म वैलक्षण्याद और ब्रह्म विद्या का जो फल है कर्म फल से विलक्षण कर्म फल तो अनित्य होता है उत्पाद अपने से भिन्न होगा किंतु ब्रह्म ज्ञान का फल अपने स्वयं सस्वरूपे कर्म साध्य नहीं है और नित्य है इसलिए उसके लिए कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है हाँ। ये सप्तम मंत्र का वाक्य भाष्य 117 में उपनिषद उपनिषदम भो ब्रूहिति उतायाम अपि उपनिषदि शिष्यन उक्ते आचार्य आह उपनिषदम भो ब्रूहि ऐसे शिष्य ने कहा उपनिषद का तो उपदेश हो गया उतायाम अपि उपनिषदि उपनिषद कही गई तो भी शिष्य ने कहा उपनिषद कहिए कहने पर आचार्य का उता तो उपनिषद उता उता उता तो कथिता उता तो कही गई ते कात तुभ्यम तुम्हारे लिए तुमको उपनिषद मैंने कह दिया कह दी उपनिषद का था कथिता कथिता ते तुभ्यम उपनिषद आत्मोपासनम च दोनों उपनिषद ब्रह्म विद्या रहस्य ज्ञान ये विद्या ब्रह्म विद्या और आगे तद्वनमित उपासित आत्मा के उपासन में कह दिया और आगे फिर क्या कहेंगे यदि हो गया पूरा अधुना ब्राह्मी भावम तो उपनिषदम अब्रुम पहले कहा था ब्राह्मी कहा था ब्रह्म परमात्मा विषय उपनिषद तुमको मैंने कहा उपदेश किया किंतु यहां अर्थ करेंगे अलग प्रकार थोड़ा करते हैं यहाँ अब्रह्म का से कहेंगे वहाँ तो कहता कह दिया अब ब्राह्मी का से ब्रह्म विद परमात्मा संबंधी ब्राह्मण यमिति ब्राह्मी यहाँ कहते अधुना ब्राह्मी भावते तव्यम वो कहेंगे ब्राह्मी का तो ब्रह्म संबंधी ब्राह्मणों का तो ब्राह्मण जाते रे उपनिषदम अब्रुम वक्षामित्यर्थ पहले ब्राह्मी शब्द का अर्थ क्या परमात्मा संबंधी यहां ब्राह्मी शब्द का अर्थ ब्राह्मण जाति के संबंधी ब्राह्मण जाति के बारे ब्राह्मण जाति में के लिए अनुष्ठेय टीका में दिया ब्राह्मण जाति उपनिषदम ब्राह्मण जाति अनुष्ठेयम विद्यां आत्मज्ञान साधन भूता मित्यर्थ आत्मज्ञान का साधन है कहेंगे जिसको ब्राह्मण जाति के द्वारा अनुष्ठेय ब्राह्मण जाति के लिए कहा यद्यपि मुमुक्ष सब के लिए सत्वाधिक्यात ब्राह्मणेन सुखानुष्ठानाम टिप्पणी दिया ब्राह्मण जाति अनुष्ठेय का अर्थ ब्राह्मण जाति से जो ब्राह्मण है उसके लिए सुख से अनुष्ठान सत्वाधिक्यात सत्व गुण अधिक होने पर विद्या विद्या साधन कर सकते हैं और जो मुमुक्ष है उसको ये सत्व गुण अधिक होना चाहिए तम गुण रजगुण तम गुण को जीतने के लिए रजगुण सेवा आदि करने पर तम गुण को जितना होता है जो सेवा आदि नहीं करते तम गुण को नहीं जीत पाते तामसी अवस्था में रहते मानते हम ध्यान करते सो सो करके लय अवस्था में रहते सेवा आदि करने पर तम गुण को जीतना पड़ता है फिर श्रवण मनन आदि करने पर आगे रजोगुण को जीतना है ये आगे सत्व गुण अधिक होने पर ही साधन सम्यक होता है सत्वाधिक्यात ब्राह्मणेन सुखानुष्ठानम सुखेन से सुखानुष्ठानम ब्रह्म विद्या टीका है विद्या ब्राह्मण जाते अनुष्ठेयाम विद्याम आत्मज्ञान साधन भूताम पहले ब्राह्मी भावते तुभ्यम ब्राह्मणो ब्राह्मण जाति उपनिषदम अब्रूम का तो पहले कहा था कह दिया यहाँ कहेंगे वक्षाम कहेंगे कहेंगे क्यों आगे वक्षति कहीं को आगे कहेंगे पहले नहीं कहेगी जो आगे कहेंगे वो नहीं कहेगी जो आगे कहने वाले वो पहले नहीं कहेगी ऐसे कहेंगे पदवास में आया था परमात्मा संबंधी ब्रह्मविद्या तुमको मैंने कह दी कह दिया अभी उसके प्राप्ति का साधन कहेंगे अभी यहां कहते ब्राह्मण जाति के अंदर अनुष्ठेय जो आत्मज्ञान का साधन बुध अभी कहेंगे कहेंगे वक्षति ब्राह्मी नोक्ता वो नहीं कहेगी आगे कहेंगे तो फिर क्या कही अब तक उक्ता तो आत्म उपनिषद आत्मा की उपनिषद ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान और उपासना ये तो कह दिया और ये ब्राह्मण जाति अनुष्ठान करने के योग्य कुछ साधन कहेंगे अर्थात जो साधन कहेंगे वही एक ही अर्थ है किंतु ब्राह्मी क्या था ब्राह्मण जाति अनुष्ठेया ब्राह्मण जाति अनुष्ठेया मतलब कोई सोचे हम तो ब्राह्मण है उसको नहीं करेंगे ये अर्थ नहीं ब्राह्मण को सुख से वो कर सकता है अन्य को करना पड़ेगा और कोई ब्राह्मण सोचे सुख से होगा मतलब हम प्रयत्न नहीं करेंगे ये नहीं ब्राह्मण सुख से ब्राह्मण यदि कर लिया कोई बड़ी बात नहीं है वो तो करना ही चाहिए सत्वगुण अधिक है नहीं करेगा तो निंदा होगी और ब्राह्मणों को प्रयत्न करके करना चाहिए कर लिया तो प्रशंसनीय किंतु ब्राह्मणों कर नहीं कर लिया कहीं कर पाए तो निंदनीय है कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं जिस प्रकार ब्राह्मण के लिए इस प्रकार साधु के लिए गृहस्थाश्रम में रह करके कोई कर लिया तो प्रशंसनीय है नहीं कर पाया तो इतने निंदा का पात्र नहीं जैसे साधु साधु सब छोड़ के आया परमात्मा प्राप्ति के लिए आया यदि परमात्मा प्राप्त कर लिया कोई बड़ी बात नहीं है तो को करना ही चाहिए करने के लिए सब छोड़ कर आया यदि के किसी अन्य अभिप्राय से छोड़ कर आया तो भी साधु बनने का सोचे साधु वेश धारण करने का ये उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति ही करनी है किसी उद्देश्य कोई छोड़कर भागकर आ गया कोई बात नहीं आकर साधु बन गया तो उसका कर्तव्य क्या है वेश बनाया तो जैसे बाहर इस अंदर होना चाहिए नहीं तो तो चोर ये के चोरी करके आकर साधु वेश बना देते हैं साधु वेश ऐसा नहीं साधु वेश बन जाने के बाद साधु अंदर होना चाहिए उद्देश्य क्या है परमात्मा प्राप्ति इसलिए साधु को अवश्य प्राप्त करना चाहिए प्राप्त कर लिया तो कोई बड़े प्रशंसा की नहीं अवश्य करना ही चाहिए उनके ऊपर भार है नहीं कर पाए तो निंदा नहीं कर पाए तो निंदा कर लिया तो कोई प्रशंसा करना जरूरत नहीं जो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर ले उसकी आवश्यकता है क्या प्रशंसा की आवश्यकता है परमात्मा प्राप्त कर ले तो कोई प्रशंसा करने की क्या आवश्यकता कोई प्रशंसा करने कोई है नहीं प्रशंसा क्या करेगा कोई जब ऐसा निश्चय करे ना कोई हमको प्रशंसा करना कोई जरूरत नहीं कोई धन समृद्धि ख्याति की जरूरत नहीं कुछ आप नहीं चाहिए तभी ज्ञान हो सकता है कुछ लोग सोचते हैं हमको भी से ज्ञान हो जाए लोग हमें पूजा करेंगे हमारे पास सब लोग आएंगे हम तो बड़े प्रसिद्ध हो जाए ये सोचेगा तो ब्रह्म ज्ञान होगा कोई सोचते इतने देखकर कोई लोग साधु बनते देखते हैं महात्मा आते उनकी बड़ी पूजा होती है सब लोग बड़ा सम्मान करते हम भी ऐसे साधु बन जाएं हमारी पूजा होगी इधर पढ़ते जब पहले हो जाते हैं अथा नौकर नहीं मिलती अथा घर में पिता माता डांटते चलो भागो ऐसे विषय ये यदि उद्देश्य होगा तो क्या परमात्मा प्राप्ति तो नहीं है और ऐसे पूजा सब हो जाती क्या कोई किसी किसी ने पूछा था हमको हम बढ़ जाए साधु मैं क्या साधु बनने से सोचते हूँ जैसे हमारे अभी पूजा करते सब लोग बुलाकर खिलाते हैं ऐसे सब साधु को हमको ऐसे खिलाते थे लाइन में खड़े होकर के मांग करके रोटी खाना पड़ेगा पहले लाइन में खड़े होकर रोटी मांग सकते हो उससे हम साधु बन जाए मतलब ऐसे आप जैसे बैठे आपके साथ रहेंगे ऐसे ही भोजन करेंगे मैं क्या ऐसे ही भोजन साधु को हमेशा नहीं करना पड़ता है जा करके द्वार द्वार खड़े होकर के नारायण हरे बोलो कोई आगे का भिक्षा दे सकता है कोई कहता चलो आगे चलो <laughs> डांटते भी है <laughs> हटे कटे होकर भिक्षा मांगता है भागो डांटते हैं तो ये सब कर सकते तो आओ पहले खड़े हो फिर चुप हो जाता है और आगे नहीं <laughs> तो ये साधु बनने पर ये कर्तव्य है कि ब्रह्म प्राप्ति करनी चाहिए इसलिए उनके लिए आवश्यक है या ब्रह्मेति वेद तन्मूलत्वा तदाश्रय यहाँ जो ब्रह्म है पूर्व पृष्ठ में आया आगे का अच्छा आगे का है आइए आगे हाँ ये तो आगे ये हो गया वेद आत्महन साधन होता तस्मा आ आगे भाष्य में उक्ता तो आत्म उपनिषद आत्मा संधि उपनिषद कही गई तस्मा न अभिप्रायो अब्रुमैत्यामि सद अब्रुम जो कहा है अतीत काल के अभिप्राय से नहीं है पदभाष्य में अतीत काल के लिए कहा गया था यहाँ वाक्य भाष्य में कहते ये भी अर्थ है अभिप्राय नहीं आगे कहेंगे कहेंगे जो कुछ साधन है जब साधकों को अवश्य अनुष्ठान करना आगे साधन कहेंगे ब्राह्मण जाति के लिए अवश्य करना चाहिए और साधु जो परमात्मा प्राप्त करना चाहता है उसको अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए वो साधन आगे कहेंगे क्योंकि सब तो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और साधन नहीं करते ज्ञान कैसे प्राप्त होगा साधन चाहिए इस आगे अंत में साधन कहते हैं उपनिषद में इसलिए कहते थोड़े साधन के जोर देना चाहिए फल प्राप्ति होकर की चाहे तो ओम आप्यायन्तु मम